ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग छाव में मगर आ, आ, मगर बहनों भाइयों आज इस छाव में आपको आराम से बैठने को नहीं मिलेगा क्योंकि आज यहाँ बड़ी भंडड़ मची हुई है यानी करना बहुत है और टाइम बहुत कम है बस तो तैयार रहिए कुछ मजेदार धूम धड़ाकों के लिए जी हाँ बहनों भैया आज हम पहुंच गए हैं गीत माला की यादों के साल उन्नीस में जब रेडियो सिलोन पर नई नई धूम मचाने वाले उस रेडियो प्रोग्राम में शुरू हुई हिट परेड यानी लोकप्रियता का पॉपुलैरिटी का नाप तोल गीत माना की हफ्तावार संगीत चोड़ी के पायदानों पर और साल भर के वीकली मार्क्स के टोटल्स जोड़कर साल के टॉप हिट गीतों का चुनाव ओके बस बाकी बातें बाद में होती रहेंगी शुरू करता हूं मैं 29 दिसंबर उन्नीस की रात ब्रॉडकास्ट होने वाले पहले वार्षिक गीतमाला प्रोग्राम के सबसे मकबूल सबसे पॉपुलर हिट गीतों की दौड़ती भागती कभी छोटी छोटी तो कभी जरा सी लंबी झलकियों की मिनी हिट परेड उन्नीस सौ चौवन यानी नाइनटीन फिफ्टी फोर की सालाना पायदान नंबर आठ पर था गीत फिल्म बागबान का बादल है आग लगी जलता दुख भरा था बहनों भाइयों मगर आप उदास न हुए क्योंकि जो गीत उस पहली वार्षिक संगीत सीढ़ी के पायदान नंबर सात पर था वो आपको फौरन मस्त बना देगा फिल्म थी शबा मन की दीन मतवारी मन की दीन मतवारी बाजे आशा जीवन नाचे मन की दीन Shiva काली बीन बजी और इधर आप मुझसे लड़ने के लिए खड़े हो गए आप आप शायद यही शिकायत करना चाहते हैं ना कि मैं ऐसे जबरदस्त हिट गीतों की झलके ही क्यों बजा रहा हूँ पूरे पूरे गीत क्यों नहीं बजा रहा अरे तो भाई आप नाराज मत होइए प्लीज देखिए बात यह है कि जो गीत सालाना हिट परेड की शानदार पायदानों पर बजे थे ना वो तो साल भी बहुत बचते रहे और आज भी अक्सर सुनाई देते हैं यहाँ वहाँ इसलिए उन सालाना प्रोग्रामों के गीत तो हमें झलकों के रूप में ही बजाने पड़ेंगे मगर बहनों भाइयों बस अभी थोड़ी सी देर में मैं उन्नीस के कुछ ऐसे करीब करीब पूरे गीत बजाना शुरू कर दूंगा जो बड़े जबरदस्त बड़े मधुर बड़े प्यारे गीत थे मगर किसी वजह से उस साल ज्यादा न बच पाए ऐसे गीत जो आपके दिल के किसी कोने में छिपे बैठे हैं और जब वो सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि आप जरूर दिल पर हाथ रखकर झूम उठेंगे चलिए एक गाना अभी पेश किए देता हूँ आपको खुश करने के लिए देखो वो चांद छुपती करता है क्या इशारे देखो वो चांद छुपते करता है क्या इशारे देखो शायद रहा है हम हो गए बचाओ मझधार में रहे हम लग जाओ तुम किनारे हो गए तुम्हारे देखो वो चांद छुपते करता है क्या इशारे देखो अब स्टूडियो की घड़ी ये कह रही है कि भाई अब जल्दी करो जल्दी करो और लौट आओ उन्नीस की पहली गीत माला हिट पर हिट पर तो बहनों भाइयों झट से चलिए उस साल की पायदान नंबर छह पर जिस पर आपसे मिलने ओ, ओ सॉरी आपके बच्चों से मिलने आ रही है एक छोटी सी झलक फिल्म वचन से चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर की चंदा मामा दूर की पकाए के आप खाए थाली में आप खाए थाली में में चंदा मामा के पकाए के अच्छा भाई रेडियो प्रोग्राम गीत माला की उस पहली वार्षिक संगीत श्रेणी पर दो सिंगिंग स्टार्स भी थे जी हाँ यानी स्क्रीन पर भी वही और गीतों में भी वही नाम थे उनके सुरैया और तलत महमूद हमारे पिछले वॉल्यूम्स में आप सुरैया से सुन चुके हैं राज कपूर और देव आनंद के बारे में आज तलत महमूद से सुनिए कुछ मजेदार बातें सुरैया के बारे में एक दिन हम दोनों को शादी का सीन सुनाया जा रहा था शादी का जी हाँ अच्छा। मालिक की शूटिंग हो रही थी हम्म। और शूटिंग शुरू होने वाली थी कि मैंने सुरैया से मजाक मजाक में कहा कि जरा होशियार रहिएगा सात फेरे होने के बाद मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ अच्छा। <laughs> सुरैया बहुत हंसी और मजाकी में जवाब दिया कि खुदा करे ऐसा ही हो आप बोले तो आप तो इतना शर्माते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते <laughs> और हीरो हीरोइन तलत और सुरैया का कौन सा मशहूर गीत उस साल लोकप्रियता के पांचवे नंबर पर आया था याद है आपको राही मतवाले एक बार मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर से मन का सितार चोरी चोरी आई है बाहर के मन का सितार राही मतवाले देख देख से कोरी का हुआ चंचल चंदा के मुखड़ पे बदली कांचल देख देख से कोरी का हुआ चंचल चंदा के मुखड़ पे बदली कांचल कभी छुपे कभी खिले कनिकार किले निखार खिले राही मतवाले अपने अपने हमराहियों के साथ गीत वाले की छाव में फिल्म बारिश का ये गीत सुनकर मनोर भाइयों जरा याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि शुरू शुरू में मुझे गीत माला का ये नया हिट परेड और संगीत सीढ़ी वाला तरीका जो था वो बड़ा अजीब सा लगा था और मैं बहुत घबरा रहा था कि अब हर हफ्ते साठ हजार चिट्ठियां पाने वाली गीत माला का क्या होगा और मेरा क्या होगा भाई मेरा तो वो पहला बड़ा रेडियो प्रोग्राम था तो उस वक्त मुझे वो कहावत याद आने लगी कि जाके राखो साइया मार सके ना कोई हाँ, मगर फिर मैंने सोचा कि भाई मुझ पर तो उस कहावत का एक और वर्जन ज्यादा फिट होता है यानी अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान <laughs> तो बस मैं सीना तहन के आगे बढ़ गया और बहनों भाइयों ऊपर वाले की मेहरबानी से हिट परेड का वो रूप चार पांच हफ्तों में ही होने लगा हिट लोगों को संगीत श्रेणी पर पॉपुलर गीतों का उतरना चढ़ना एक रेस की तरह लगने लगा और कुछ लोग तो बेटिंग भी करने लगे कि देखिए इस हफ्ते कौन सा गीत आता है गीत वाला की चोटी की पायदान पर और जब साल के आखिर में वार्षिक प्रोग्राम आता ना तो यूं लगता जैसे सारी दुनिया के लोग रेडियो से कान ही नहीं बल्कि दिल लगा कर बैठे हैं और उन दुनिया वालों ने गीतमाला के पहले एनुअल प्रोग्राम के पायदान नंबर चार पर सुना ये शानदार गीत इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है कहना है जो कह दे तुझे किस बात का डर है है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दर पे सभी एक है बंदे ये वो दर है इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है दोस्तों आपने अगर वो फिल्म अमर देखी थी ना तो आपको याद होगा इस गाने में स्क्रीन पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार नजर आए थे मगर वो मंदिर आकर असली पश्चाताप यानी पछतावा अपनी किस हरकत के लिए कर रहे थे उसके बारे में उस फिल्म के कॉमेडियन मुकरी साहब ने मुझे बताया था सुनिए मैं शूटिंग कर रहा था हम्म। और एक सीन में मुझे एक बंदर के पास जाना था बंदर के पास हाँ जी हाँ बंदर के पास मेरे पहले दिलीप साहब ने उस बंदर को इतना छेड़ा इतना छेड़ा कि वो बहुत सीरियस हो गया तो उसके बाद मेरी बारी और मैं उसके पास गया तो उसने बड़े जोर से उछलकर मेरे हाथ को काटा अरे बंदर ने काटा जी हाँ बजाय इसके कि सब लोग महबूब साहब और युद्ध साहब मुझसे हमदर्दी करते हम्म। वो उसको एक तमाशा बनाकर लौट पौट हंसने लगे अच्छा अच्छा और कहने लगे कि अब तुम जो भी हरकत करोगे वो बंदर वाली होगी <laughs> और कर मैं जो भी करता था वो बंदर वाली हरकत होती थी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं बंदर हो गया हूँ ओहो थोड़ी देर बाद मरहूम महबूब साहब ने मुझे हॉस्पिटल भेजा वहाँ डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि तुमको बारह इंजेक्शन लेना पड़ेंगे बारह इंजेक्शन इंजेक्शन से वैसे ही मैं दूर भागता था लेकिन चूंकि जिंदगी का सवाल था इसलिए मजबूर हो गया हम्म। दिलीप साहब के लिए तो ये मजाक हुआ मगर मुझे ये मजाक बहुत ही भारी पड़ा बनो भाइयों मुकरी साहब की मशहूर फिल्म और टीवी राइटर बेटी नसीम मुकरी ने भी बाद में कंफर्म किया है कि वो बंदर काटने वाली घटना अमर की शूटिंग के दौरान ही घटी थी खैर आइए साहब जरा फिर से अपनी स्पीड बढ़ाएं और यादों का कदम भी बढ़ाकर रखें माना की पहली संगीत छुड़ी यानी फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम की पायदान नंबर तीन पर जिस पर आ गया था फिल्म आर पार का वो गीत जो हर घमंडी मर्द हमेशा सुनना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड से वॉल्यूम में आगे चलकर आर पार की हीरोइन श्यामा भी आएंगी जरा इंतजार कीजिए और अब ये देखिए उन्नीस की पहली गीतमाला वार्षिक संगीत छुड़ी की पायदान नंबर दो की यादें उभर रही है कहिए साहब पहचानी ना आपने फिल्म नागिन की दीन भाई उस गीत ने कैसे कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इसका जिक्र गीत माला की छाओ में के अगले वॉल्यूम में होगा मगर उस गीत के बारे में एक अमर सवाल ऐसा है कि आज तक कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका वो सवाल यह है कि जब नागिन के इस गीत में बज रही थी बीन तो गीत ये क्यों कह रहा था कि कौन बजाए बांसुरिया मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का 1954 के टॉप हिट गीत नंबर वन पर और उस साल की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी का गीत था बताइए किस फिल्म का यस टैक्सी ड्राइवर जाए तो जाए कहा जाए जाए तो जाए कहा समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबा जाए तो जाए उन्नीस से लेकर 1977 तक यानी 23 वर्षों तक मैं भी गीतमाला के पहले सालाना प्रोग्राम की लिस्ट को ढूंढते ढूंढते यही कह रहा था कि जाए तो जाए कहा क्योंकि भाई उस साल की फाइलें दफ्तर से कहीं गायब हो गई थी फिर जब मैं 1977 में गीतमाला सिल्वर जुबली के दो एलपी रिकॉर्ड्स तैयार कर रहा था तब मुझे सूझा कि क्यों न मैं अपने सुनने वालों से पूछ लू शायद उनमें से किसी के पास वो लिस्ट रखी हुई हो और मैंने भाइयों आपको ताज्जुब होगा जान करके राजकोट के एक गीतमाला प्रेमी ने मुझे वो लिस्ट भेज दी और राजकोट के उस गीतमाला दोस्त का नाम है मधुसूदन भट्ट मगर मधुसूदन भट्ट ने उन्नीस के सिर्फ टॉप के आठ ही गीत लिख भेजे थे जहाँ और उस घटना के करीब तीस साल बाद यानी 2007 में एक और चमत्कार हुआ ये कैसा चमत्कार था ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद अभी तो शुरू हो रहा है सिलसिला उन लाजवाब गीतों का जिन्हें लोकप्रियता की धूप ज्यादा नहीं मिली और वो पीछे रह गए जरा ये भी शायद ऊपर वाले ही का प्लान था बहनों भाइयों कि आज इतने वर्षों के बाद हम फिर खींच लाए उन गीतों को गुमनामी के अंधेरे से और ले आए उन्हें सबके सामने गीत माला की छाओ में तो दीजिए ये सिलसिला शुरू होता है उस साल की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म के विदाई गीत से मगर उसमें विदाई के आंसू नहीं थे बल्कि काफी धूमधाम थी साहब हाथों में मेहंदी रचा

अब आता है उन्नीस का एक और गीत जो सालाना संगी सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाया लेकिन जो लोग पुराने रेडियो सिलोन यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के फैन रहे हैं वो ये गीत कई वर्षों तक हर महीने की पहली तारीख पर जरूर सुना करते थे दिन है सुहाना आज पहली तारीख है कुछ है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख पहली तारीख है बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना जल्दी से आना शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना हमें सिनेमा दिखाना करो बहाना बहाना बहाना करूँ ना बहाना आज पहली तारीख है कुछ है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है पहली तारीख है कितने पुकारा रुक गया बाबू लाला जी की जान आज आया है काबू आया है काबू वो पैसा जरा लाना वो पैसा जरा लाना लाना लाना वो पैसा जरा लाना आज पहली तारीख है खुश है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है जी पहली तारीख है बंदा बेकार है किस्मत की मां दिन एक है रोज ऐतबार है मुझे न सुनाना हाँ, सुनाना सुनाना मुझे न सुनाना आज पहली तारीख है कुछ है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है अच्छी पहली तारीख है के सामने आए मेहमान हैं बड़े ही शरीफ हैं पुराने मेहरबान हैं बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है अरे जेब को बचाना बचाना बचाना जेब को बचाना आज पहली तारीख है कुछ है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है जी पहली तारीख है से यदि को गम है कि पैसो चलो हाथ से अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना लुटेगा खजाना आज पहली तारीख है कुछ है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है जी पहली तारीख है दिन है सुहाना आज पहली तारीख है खुश है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है अजी पहली तारीख है